અવકાશ જયારે મળે ને ત્યારે દાદાજી ની જોડે રૂબરૂ માં વાત કરતા હોય ને એવું આખું વર્ત્યા કરતું હોય તારો પ્રશ્ન પૂછાય તો એક્ઝેક્ટ જવાબ મળે મને અત્યારનું મન અને વાણી એ તો ચાર્જ કરીને લાવેલા છે ને રોગ વાળી હોય ને અત્યારનું મન અને વાણી એ પૂર્વ ભાવના લઈને આવેલા છે એટલે એ રોગિષ્ટ જ હોય ને તો હવે અને હવે કે ને કે નિરોગી મન અને નિરોગી વાણી જોઈશે જ્ઞાન થયા પછી નિરોગી થવા મળે નિરોગી થવા મળે વધારે વધારે રોગી શરીર મોડું થાય પણ થવા મળે શરૂઆત થઈ વાણી નિરોગી વાણી કોને કેવાય નિરોગી વાણી કોઈને દુઃખ ના થાય ભગવાનની મૂર્તિ હતી તો અમુક હતા किधर बात करी थी मैं बात करी बात किया है भगवान के साथ बात किया वो बात ही नहीं करता उससे बात ठीक नहीं है उसकी वो दूसरा कोई मिल गया उसकी आइडियल ही नहीं इंसान जैसा एक लाइव मूर्ति दिखा आदमी आदमी जैसा लाइव मूर्ति जीवंत मूर्ति दिखा हम्म, जैसा वो ठीक बात है ये गुरु गुरु मिलता है कभी भगवान नहीं मिलता है भगवान बॉडी वाला है क्या नहीं निरंजन निराकार होता है जैसा बॉडी वाला और चीज भी नहीं है वो चीज तो इसकी है कोई चीज बोलता है नहीं और भगवान चीज बोलो क्या ये चीज नहीं जैसा भगवान चीज नहीं जैसा हो गया भगवान बोल सकता नहीं शेप रेकर्ड ही बोल सकता है शेप रेकर्ड बिना कोई बोल सकता ही नहीं ये आपके साथ बोलता है वही भी टैप ही बोलते हैं और आप बोलता है वो भी टैप रेकर्ड और भय नहीं लगता है कभी कोई चीज से भय नहीं लगता है भगवान का भी भय नहीं लगता है बताओ रिजल्ट का यहाँ तो बहुत भय लगता है एग्जाम के एग्जाम के रिजल्ट का इतना भय लगता है कि रात भर नींद नहीं आती रिजल्ट अच्छा आता है तो भाई से रिजल्ट अच्छा आता तो सब लोग भाई करता है तो इससे रिजल्ट अच्छा हो जाएगा जो पास भाई होता है नहीं हम्म। अपने जात पर विश्वास वाला है नहीं होता जिसको खुद खुद खुद पर विश्वास नहीं भाई नहीं होना चाहिए સંતોષભાઈ લગતા ને એ તો કેતો તો ને પેલું વિરાટ ના જે બોમ્બાર્ડિંગ થતું હતું ને ત્યારે બાજુમાં જ બધે બોમ્બ પડે પણ મને તો વ્યવસ્થિત હાજર થતું હા The world is the puzzle itself puzzle. God has not puzzled this world at all. only scientific circumstantial evidence. एक आदमी एक आदमी का गजा काटता है इसमें भूल किसकी है किसकी भूल है है तो जिसका जेब काटा गया उसकी जिसका जेब काटा गया उसकी भूल है जिसका जेब कट गया हाँ तो, तो जिसका तीन हजार गया उसकी भूल नहीं तीन हजार दे गया उसकी भूल नहीं हाँ जय सच्चिदानंद चिंता करके मजा नहीं चिंता होना चाहिए और जानवर भी चिंता नहीं करता है कितना आराम से पड़ता है तो जानवर हमने भी इतना फर्क आ जाता है ना वो चिंता है वो तो एक पुलिस लोगों ने चिंता से काम बुरा ही होता है अच्छा नहीं होता है कोई काम चिंता तो पुरुष कभी एडजस्ट नहीं बारे बालक को कैसे कोई चिंता नहीं होता है वो तो इगोइजन है प्योर इगोइजन जैसा हम चलाता है ऐसे ऐसे बात इगोइजन नहीं चिंता है हाँ? कैसे क्या होगा इगोइजन कैसे क्या इगोइजम होगा इगोइजम हम्म। कैसे होगा हम चलाता है ऐसे इसको चिंता होता है तो बच्चे को कभी होता है तो कल आने वाला संडास जाने की कोई आदमी की संडास जाने की ताकत है नहीं वो तो नहीं है लेकिन जब तक हाँ, जब तक फिगर नहीं करेंगे तो कोई चीज का अचीवमेंट या तो नहीं हुआ है चिंता नहीं करने का विचार करने की शक्ति तुम्हारा है हाँ। चिंता और जब विचार करने की शक्ति है तो कभी चिंता तो होती है जब विचार करे तो फिर चिंता तो होती है नहीं बाउंड्री है इधर तक आने का विचार फिर इससे आगे जाएगा तो चिंता हो जाएगी એટલે मतलब विचार चिंता ચિંતા की तैयारी होगी बंद कर देने का अभी समय सारी चिंता करके फ्रैक्चर हो जाता है सभी आदमी फ्रैक्चर हो गया क्या है चिंता करने की नहीं विचार करने का इधर तो इधर विचार करने का लिमिट है જैसा नाइन्टी एट इज नॉर्मल ऐसी नॉर्मलिटी है जिससे आगे गया चिंता हो जाती ऐसा आपको होती है चिंता होती है तो चिंता is age of policeman चिंता होती है आपको को नहीं होती है फिर बोले चिंता मुक्त कैसे होना હે? મુક્ત ચિંતાથી મુક્ત કેવી રીતે થવું એમ પૂછે છે हमारे पास आओ हम मुक्त है कभी हमारे आदमी हमारे पास बीस हजार आदमी है चिंता से मुक्त ये चिंता થાય છે તમારે ये क्या है? पूरी विचार करने का है आदमी को तो इधर तक है नॉर्मल इधर आई वहां तक विचार करना है इससे आगे नहीं जाने का अपने को खबर पड़ जाती है के अंदर चेंज होता है नहीं विचार करना भी लिमिट पकड़ लो लिमिट कभी पकड़ा था लिमिट इससे आगे चले गए come to the normal come to the normal abnormal चिंता एबनॉर्मल विचार की चिंता पुस्तक में नहीं लिखा है पुस्तक में लिखा नहीं है एबनॉर्मल अपने बुक में लिखा नहीं है अपनी चिंता ही लिखी उसमें तो सिर्फ चिंता ही लिखी हुई है The world is the puzzle itself. God has not puzzled this world at all. You are a whole and soul responsible for the world. Whole and soul responsible. The world is the puzzle itself. God has not created this world. God is created correct by Indian viewpoint, not by fact. Indian viewpoint, view, viewpoint, not by fact. By Muslim viewpoint, not by fact. क्या खुदा का धंधा है कदर करने का कुछ समझने की जरूरत है कि नहीं मनुष्य हो जाए बस उसको समझने की जरूरत ऐसे कैसा कमाने से क्या स्वतंत्र हो गया कुछ और और के साथ कुछ हो गया पदल फिर आता दिन चिंता है औरत के शादी करो मगर चिंता नहीं होना चाहिए पजल नहीं होना चाहिए पजल होने वाला तो करते शादी में क्या कुछ करता है पजल प्रूफ हो गया बात शादी करो पजल प्रूफ पर फिर बदल भी ना होता है यदि प्रूफ करने के बाद शादी करो नहीं किया ना ठीक हाँ मेरी बात थोड़ी समझ में आती है आती है आती है जब तो नहीं है ना नहीं नहीं हाँ करेक्ट है है तो एकदम है। करेक्ट करेक्ट है हम्म, चिंता कैसी होती है? Police man adjustment police man નો એડજસ્ટમેન્ટ હા આખી રાત વિચાર કરી કરી ચિંતા ऑल नाइट इधर आया तो दूसरी बात में ले लेने का दूसरा एडजस्टमेंट समझे वो समझना कैसे कि ये लिमिट है बोल के हाँ तो वो इधर आया नहीं वहां तक इधर आएगा स्ट्रेट और इधर से नीचे जाएगा नहीं तो ऐसे ऐसे घूम ही रही तो तुमको बुखार कर मालूम हो जाएगा घूम रही बकरा ऐसे समझ में आएगा जो तो इधर तक आया फिर दूसरी आइटम में लगा देने का विचार में जो मिलने का था मिल गया आपने कुछ ईर्षा आगे आगे पॉइजन निकलेगा समझ में आता है कुछ और जो जो कुछ बनता है वो ही न्याय है दूसरा न्याय मत खोलो जो कुछ बनता है वो न्याय बुद्धि से दिखाता है वो न्याय नहीं समझ में आया जो कुछ होता है वही न्याय है न्याय वो कोर्ट के लिए चलता है कोर्ट में चलो वकील के चलो अरे सच्चा न्याय जो हो गया वही <laughs> कोई आदमी ने अपने को दो गाली दिया वो न्याय है झगड़ा करने की न्याय तो हो गया झगड़ा करने की जरूरत है फिर दूसरा गाली देने की जरूरत है गजा काट लिया नजर नहीं आए फिर आगे कोशिश नहीं करना क्या कोशिश करने का कोर्ट पर जाने का वकील को वहां जाने का पुलिस को साफ साफ करने का न्याय तो हो गया फिर क्या दूसरा न्याय कहा लेगा मैंने गजवा काट लिया तो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करने का आप तुम्हारा काट नहीं काटा उसका नहीं काटा उसका नहीं काटा वो, वो तुम्हारा नंबर क्या से लगा है दस आदमी का किसी का नहीं कट गया तुम्हारे क्या से कट गया वो तुम्हारा नंबर लग नंबर लग गया है प्रेजेंट सनसाइज <laughs> वो प्राइज रहा मिला इसमें झगड़ा करने का फिर कोर्ट में जा रहे कुछ समझना चाहिए नहीं ऐसा स्वतंत्र कैसा हो रहेगा वर्ल्ड में खुद आप स्वतंत्र है आपको ख्याल ही नहीं कोई अरे इनाम मिला वो वो सम- समझाओ ना કેવી રીતે ઇનામ મળ્યું वो इनाम कैसे मिला वो बताओ वो प्राइस कैसे मिला वो बताओ बोले प्राइस कैसे हो गया वो तो इनाम मिलता है वो ગજવા ગજવા કાઢ દિયા. गजवा काट लिया तो प्राइस कैसे गिनना कहता है एक रुपया भर के इनाम मिलता है ना प्राइज नहीं मिलता है લોટરી, લોટરી. લોટરી મળે છે कोई को मिलता है ना હા कोक आदमी को मिलता है ना ऐसे एक ये भी कोक आदमी को गजा काटता है वो वो पैसा आता है और पैसा जाता है दो ही प्राइज है એટલે દાદા <laughs> આપણી કાપીઓ છે પેલા એનું એટલે મળી ગઈ ના આપણે પેલા એનું કાપ્યું હશે એટલે આપણને नहीं, મળી ऐसे नहीं काटा बैठा नहीं आपने क्या कब्जा काटने वाला है એની પહેલે પહેલે આપણે જન્મ नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं अपना गुना है ये गुना का फल मिला હા, હોય અચ્છા કોઈ દી ગુના गजा नहीं काटा है ऐसा अपना धंधा नहीं होता है अपना कुछ गुना है કોઈ ગુના है। इसका फल में ऐसा और नेचर क्या करती है उसका गुना का फल देना ही चाहिए तो नेचर क्या करता है वो जो गजा करने वाला है ना उसको बताता है कि इसका गजा काट लो और ये बाजू का काट लो हाँ दो हजार जाने की जरूरत है ये बाजू का मत काटो दो सौ दो हजार का काट लेता है वो कहते वो नेचर बोले तो वो कौन करता है साइंटिफिक सर्कमस्टेंस कोई चीज अकेला नहीं है वो स्पेस टाइम બીજા कितना બધા संजोगो सर्कमस्टेंस एविडेंस होता है भगवान नहीं करता है वो सर्कमस्टेंस एविडेंस नहीं करता है जैसा टू है इसमें वो जो बिगा हो जाता है पानी हो जाता है ऐसे हो जाता है तो वर्ल्ड विज्ञान से चल रही है भगवान नहीं चलाता है उसका कोई प्रूफ क्या ये साइंटिफिकली चलता है हम्म। उसका प्रूफ क्या है वो, टू होता है बिगा होता है पानी नहीं होता है क्या दूसरे ने किसी किसी ने पानी बनाया है और आप आप आप मेरे को देखा हुआ आप मेरे को देखा हुआ ये साइंटिफिक सकल से एविडेंस है तो इस कोई से ये टाइम वो से ये टाइम ठीक है तो सब बीजा बीजा सब जो तुम्हारा मेरा संबंध है वो सब ओपन हो गया है अभी वो आगे पीछे का ये जन का नहीं पीछे पिछली जन का वो तो इफेक्ट फैक्ट्री है पुस्तक में बदल सकता नहीं वो क्वारिज में हो गया है क्वारिज आज आज इफेक्ट हो गई क्वारिज आज इफेक्ट हो गई क्वारिज एंड फैक्ट क्वारिज एंड फैक्ट फैशन क्वारिज चल रहे हैं खाने के कोई फादर है ना इनका लड़का को पांच लाख रुपया का हाँ, मकान देता है तो ये लड़का ने पहला पांच लाख का तू मकान दिया है ऐसा नहीं है ऐसा है ये फादर को उनके से राग था पिछले तक तो राग से राग से ही मिलता है मुखद नहीं मिलता है क्या समझ गए राग वैसा लिया दिया नहीं राग वैसे ही होता है राग देश से सब कर सकता है तो दिखाई लोग बोलता है हमने हमने दिया था ये आप देता है हमको क्या हम भी दिखाया था ऐसा ही ऐसा नहीं The world is the puzzle itself. There are two viewpoints to solve this puzzle. One relative viewpoint, one real viewpoint. Then puzzle solve. हो गया फिर पजल ही होता नहीं और गाली दे दे पजल नहीं होता है स्वार्थ क्यों होता है तू अपने को अपने को नहीं हुआ है ये उसको होता है ये क्या हुआ कुछ कुछ कुछ- कुछ- कुछ- कोई खेल नहीं होता है રિબાઉન્ડ આવે એટલે કે રિબાઉન્ડ આવે પછી હે? રિબાઉન્ડ આવે પાછી हाँ पर तो भरे नहीं कुछ अपनी पास हथियार है ना बदल फाड़ करने का ના સમજાયું. એ કે છે રિબાઉન્ડ આવે આપણે આપણે સા- એ સામેથી આવે આપણને કઈ ઇફેક્ટ ના થાય એટલે પાછું એને જ જાય है ना जाए ये तो आप आपने कागज मेरे को डिस्कस किया पर हमने स्वीकार नहीं किया तो आपके पास से क्या आएगा क्या तो स्वीकार नहीं करता है इसी बात को करता नहीं स्वीकार कौन नहीं करता है वितराग वितराग जिसको राग ही नहीं है तो पदल तो फल गए स्वीकार करने का क्या जरूर कुछ बात करो हाँ, समझने की जरूरत वरीज वरीज वरीज क्या आदमी की वरीज होता है <coughs> तीर आदमी की वरीज कैसा होता है अंतिलेज होता है वो बनारस तो बोलता था ना बनारस को कोई कोई ने पूछा कि तुम वेजिटेबल हम्म, खुराक क्यों लेता है बोलने लगा क्या हाँ, मेरे को तो सिविलाइज होने की जरूरत क्या बोलते सिविलाइज होने की जरूरत आपने हम्म, तो सिविलाइज तो हो गए ये चालू कर दिया अपने लोगों ने दुकान में हम पी होने का कभी थोड़ा थोड़ा खाया था ज्यादा ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा चलते रहे थोड़ा तो तुम्हारे जो खाने का जरूर है तो हमें दूसरी रीत बता रहा हूँ तो जो खाओ नहीं तो मरघा को जाते खुद काट के खाओ आपने खुद के काटे पीछे खाओ भगवान बोले है कि हलाल करके खाओ हलाल हराम करके मत करो अपने खुद से काटो किसे खाओ ताकत है जी किसी को ताकत नहीं लोग ना बोला है જંગલી કયા ભગવાન કે વાઇલ્ડ પર્સન એથી તાકાત થાય નહીં કાક ને તો તું તો શાકભાજી કાઢો એ તાકાત છે તમારા દૂધી છે મુશ્કેલ તાકાત છે નહીં લોહી દેખતી હોય તો ખરું જોઈએ तो फिर बोले ये कुछ देव देवियों को बकरा क्यों चढ़ाते बोले ऐसा है कितना देव ऐसा है कि जो नॉन वेजिटेरियन ओके ना तो इसको खुश करने के लिए वो करता है इसमें क्या फायदा उन, उनको इसमें पाठ मिलता है खा, उसको खाने के लिए अच्छा नहीं है सारी और सब देवी के पास नहीं होता है अमुक देवी के पास कितनी देवी के पास नहीं होता है वो बिल्कुल गलत तो नहीं है इसका कितना भी देर है तो जो मौन करता है और कितना भी कितना बहुत देव है जो तो मौसा कभी इसकी सुगंध भी नहीं लेता है अरे आप गाय भैंस नहीं करता कभी कितना खीर है पर <laughs> बकरी भी नहीं કેટલા પી લે राजी एम पी रही है दादाजी हम इसी को नहीं कहेंगे ये क्या इसी को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं कहेंगे ये जो नॉनवेज खाना नॉनवेज खाना गाय नॉनवेज नहीं खाना वेजिटेरियन खाना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है मतलब जो अपना वोट है तो आपका वोट अपना वोट बंद कर दो तो फिर बंद हो जाता है थोड़ा थोड़ा दफे तो रिएक्शन आके बात बंद हो जाता है तुम्हारा बंद हो गया तुम्हारी जो वोट है तो वहां तक चालू हो जाएगा अपना वोट बंद कर दो सरकम है जिसमें अपना भी वोट है अपनी राजी है और उसके अंदर अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता अपन चाहो या मत चाहो लेकिन वो तो होते रहेगा अपनी इच्छा है अंदर जो एविडेंस पूरा होता है सरकार अच्छा नहीं होता है कुसंग होता है तो जब कान कुछ होता है अच्छा से ऐसे खा तो सकते आदमी अपने धीरज भी वो अंधीरज भी के पर बची धीरज सिविलाइज तो होने के लिए तो उसने छोड़ दिया बर्नाट तो हम्म। और सब जो खाता था उसको क्या वो बोलता है इसने दूसरे को कितना अपमान हो गया है घोर इंसल्ट हो गया है ये बोलता है कि सिविलाइज होने की मेरी जरूर है इससे मेरे सिविलाइज होने की जरूर है इससे मैं नहीं खाता हूँ तो फिर खाता है तो हम अनसिविलाइज हो गए ना तो आखा वेस्टर्न कंट्रीज को सबको गाली दिया ना बस बंद कर तो हमारे हम अमेरिका का तो कितना आदमी बंद कर दिया और और खाना हो तो तुम काट के खाओ जैसा दूधी दूधी काट के खाता है पूरे भर काट के खाता है ऐसा तो आपको खाओ नहीं खा सकता खा सकता है <laughs> <laughs> अपना तो हलाल करना चाहिए हराम नहीं होना चाहिए हलाल कैसा वो मुर्गी को रख के एकदम नहीं काटने का गड्डी फिर रहे उसको खाने की ताकत है Ha <laughs> ha મેં પૂછ્યું તું હલાલ કરી શકું એને પૂછ્યું ને તું હલાલ કરી શકું કરું કે છે કરે કરે કરે કઈ એમને રંગાઈ ગયેલું હોય તમે સીલ આવી શું ક્ષત્રિય ક્ષત્રિય આવડતું નથી આમ કાપતા આવડે એ તો અત્યારે લડી લડવા લડાઈ જાય તક કરાયેલી તાર તું તો બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણ હા બ્રાહ્મણ તું તો નહી ખાતો ને नहीं होना चाहिए ऐसा तो नहीं आपसे बन गए तो हमारा हम बोलते हैं ना इससे बन गए तो इसमें बॉडी की ताकत अच्छी रहती है बॉडी का अंदर जो दिशा रोग नहीं हो जाएगा समझे ना क्या नहीं क्योंकि इनकी मदर का जो तो दूध आता था ना इसमें दूध में वो है और अपने मदर के दूध में नहीं है समझे ना तो नहीं होना चाहिए तो आदमी का मांस नहीं खाता ना खुद ही खा सकता है नहीं तो फिर उसने क्या गुना किया बेचारे <laughs> दुख नहीं होता है मुर्गी को होता है तो फिर ऐसा ही वैसे भाजी ऐसा तरकारी ही भी दुख रिएक्शन होता है आएगा दादा जी रे- रिएक्शन ऐसा ही आएगा એ કે છે કે એવી રીતનું ભા- આ ભાજી શાકભાજીમાં પણ એ લોકોને પણ દુઃખ થાય છે कोई हरकत नहीं रे- रे- रे- भा- भाजी को कोई क्योंकि जिसमें ब्लड निकलता है जिसके जागृति ज्यादा है जागृति ज्यादा है उसमें जागृति भी ज्यादा नहीं और वो भी जीव है सब तो जागर भी ज्यादा नहीं है ब्लड नहीं है ब्लड वाला मत खाओ ब्लड बिना होगा सब कुछ सब जात की भाजी दाग भाजी सब कुछ खाओ ब्लड में जितने ब्लड नहीं है और अहिंसा अहिंसा का लिमिट उधर ही है कि जो लड़ वाला है जो डरता है अपने को जो त्रास होता है जे जी को इसको मत मारो और सब वेजिटेबल वो तो इसको त्रास नहीं होता है इसको खाओ मजा करो और बहुत चीज है इसमें इंडियन फूड में तो। कितनी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इसमें क्या खाने का एक दफे कोई कोई जानवर ऐसा आएगा नहीं जो रोगित है ना तो वहाँ खाने की महत्व અને નહીં તો હિન્દુસ્તાનમાં તો રોગી છે જાનવર રોગી છે इंडिया में फॉरन में अपना घर में सब कुछ सब कोई खाता है नहीं नहीं दूसरा नहीं खाता नहीं बंद कर दो अभी से अभी से बंद दादा का नाम से कर दिए दादा और डूंगर पे से पथरा तो मिलता है पड़ता है तो उसकी जान क्यों तो नहीं करता है क्यों नहीं करता है डूंगर से पथरा गया और उनको लोहे में गिरा तो फिर कोई उसके साथ झगड़ा करता है और लड़के के साथ झगड़ा करता है नहीं ये भी ये भी डूंगर है ये भी डूंगर है पत्थर बाल मारने वाला घटना काटने वाला वो डूंगर ही है वो खुद होता है ऐसा नहीं करता वो खुद नहीं है डूंगर ही करता है કૃષ્ણેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ ઇલોરા સાહેબ બાર આઠ ત્યાંસી कभी बोला था दादा भगवान कभी नहीं कहता कभी बोला था કભી નામ દાદા ભગવાન નો हाँ बस बस वो हाजरा आदमी में सीधे जाओ तो उधर बोलेगा हाजरा आदमी में રોજ કરું છું કેવું हाँ। દાદા ભગવાન નો દાદા ભગવાન નો અસીમ દેવી કાઢો રોજ આઠ આઠ મિનિટ દસ મિનિટ પંદર મિનિટ કરું છું हाँ बस आठ मिनट से ज्यादा करने का और ज्यादा में ज्यादा पचास मिनट अभी आप थोड़ा बोलाओ दादा हेलो की इससे करना इंसान को नहीं। कोई बात करो દસ રૂપિયા આપણે પૂછતે હા આપે પણ ખબર નહીં આપણે કોઈને આપી હતી બે ઓછી થઈ ગયો कई विधियाँ बताएगी तो भगवान की पूजा की विधि क्या है भगवान की पूजा की विधि बहुत बताई है जुदी जुद अलग अलग तरीके की कई बताई है तो भगवान की सच्ची विधि कई पूजा की सच्ची विधि प्रत्यक्ष की है प्रत्यक्ष की वो सब परोक्ष विधि है तो परोक्ष रहता है और प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष वो तो सब परोक्ष है जुदा जुदा तुम्हारा जुदा है इसका जुदा सही विधि कैसे है क्या करना तो सही सही विधि कौन सी है कैसे करना और तो सही विधि पूजा की विधि सही कौन सी है कैसे करना सच्ची विधि कैसे करना सच्ची सच्ची कैसा हो सकता है कोई भगवान को पिछाना नहीं करेंगे सोचा तो कैसा होता है वो सब परोक्ष विधि पिछाता नहीं तो अच्छा, मूर्ति मूर्ति में मान लो कुछ जगह पे मान लो वो परोक्ष विधि है सच्चा भगवान को पिछाना ये सच्ची भगवान भगवान के स्मरण से भी भक्ति होती है ना हम्म। स्मरण से भी भक्ति होती है ना हाँ, हाँ, हाँ होती है मगर स्मरण वो प्रत्यक्ष का प्रयोग का प्रत्यक्ष का परमानेंट घर मिलेगा और परोक्ष का टेम्पररी धर्म मिलेगा तो परमानेंट क्या होता है परमानेंट चाहिए परमानेंट हाँ। चाहिए हाँ तो इधर परमानेंट की बात है सब इधर टेम्पररी की बात नहीं आपका नाम क्या है हाँ। रमानंद रमानंद रमानंद रमानंद हाँ। वो तो रमानंद का तो लौकिक बात है मगर अलौकिक में आप खुद कौन है रमानंद तो, यार ये भी रमानंद नॉट यू वो तो रमानंद लौकिक बात है सच्ची बात है ही नहीं तुम खुद कौन है इसकी सच्ची मालूम है नहीं ये नहीं चाहिए खुद का पीछा नहीं चाहिए हाँ? क्या my name is Ramanand not I એટલે હું રમાનંદ તરીકે લો- લોકો મને બોલાવે છે पहचान करने के लिए सबको पहचान करके लिए भाई रमानंद ये बॉडी का नाम रमानंद है ये आदमी का नाम रमानंद है मैं जुदा हूँ इससे माय नेम इज रमानंद This is my body, my body, not I. तो पहला ये पहचान हो जाएगा तो फिर भगवान का पहचान हो जाएगा भगवान का पहचान हुआ फिर कोई झगड़ा नहीं सब बात की शांति अभी तो मूर्ति मान के करता है परोक्ष है पकोटा है मूर्ति है इसको कृष्ण भगवान मानता है मतलब कृष्ण भगवान नहीं है प्रयोग है सच्चा कृष्ण भगवान को मान वही अपना स्वरूप है तुम खुद है वही है मगर आपको कैसा पीछा हो जाएगा तो हमारे पास आओ तो कृष्ण होता है तुमको चिंता नहीं होते हैं चिंता नहीं कभी नहीं कभी नहीं हाँ भगवान का विचार हो गया कैसा चिंता होता है ये सब बैठा है सबको भगवान का दर्शन हो गया चिंता किसी नहीं चिंता कभी होती है नहीं और उपाधि में समाधि रहता है जगह में उपाधि हो इसमें भी समाधि रहता है बात करो कोई समान कोई बात करो जो परमानेंट जो भक्ति बोलते हैं वो परमानेंट भक्ति जो बोलते हैं वो बना परमानेंट हम्म। भक्ति चाहिए परमानेंट हम्म। भक्ति वो परमानेंट अपना खुद का पिछान हो जाती है परमानेंट होती है नहीं तो वहां तक परमानेंट नहीं आपका आप खुद है कौन है इसके इसकी मालूम नहीं फिर क्या होता है तो ये कैसे मालूम करें कि हम ये कैसे मालूम करें कि हम क्या है वो तो हमारी पास आएगा तब पाप को जला देंगे सब मालूम होता है और भगवान की कृपा उतरेंगे सब मालूम होता है फिर हम इधर आए तो आप आना सब मालूम हो जाएगा અને અભી કભી મનતા तो परसों बम्बई आओ बम्बई में भी वो तो हिम्मत सब आ जाएगा हम हमें आज द- कोई दवा देगा नहीं वो दवा करेंगे तो हिम्मत आ जाएगी समझे नहीं बोल दे कोई तकलीफ नहीं रहेगी और थोड़ी दवा चाहता है तो भी ऐसा बोलता है दादा भगवान उसका तर्क पर मिल जाएगा cash bank of divine solution आखा शांति रहेगा सिर्फ आप बोलाओ हम बोलेगा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए ऐसा नहीं है वो वो नाम लेने से शांति होती है क्या होती है इसके एकाग्रता होती है योग परोक्ष है इससे एकाग्रता हो रही है शांति भी होती है मतलब परमानेंट नहीं रहती है और ये प्रत्यक्ष है तो इसीलिए उधर से आठ दिन से ज्यादा बोलेंगे तो ऊपर से अंदर अमृत बिंदु पड़ेगा फिर बहुत आनंद शांति हो जाएगी आठ मिनट से ज्यादा बोलना चाहिए और पचास मिनट जो बोल दिया तो भगवान बहुत खुश रहेगा पचास से ज्यादा नहीं एक दिन में समझ गए ना मगर इतना आवाज से बोलने का इतना जो आवाज करता है नहीं इतने आवाज से और अपना घर में दो आदमी तीन आदमी जो हो इनके साथ करके समझो ना अब तुम बोलाओ बोलो नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम નમો વાય રિયાણમ નમો વાય રિયાણમ નમો વત્સાયણમ નમો વત્સાયણમ નમો લોયે સવ સાહુણમ નમો લોયે સવ સાહુણમ નમો હરિહંતાણમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો વજ્જાયણમ લોય સર્વ સાહુણમ નમો લોય સર્વ સાહુણમ નમો હરિયંતારમ નમો હરિયંતારમ નમો સિદ્ધારમ નમો સિદ્ધારમ નમો આયરિયાણમ નમો આય વજ્જાયણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો વાય રિયાણમ નમો વાય રિયાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો હરિહંતાણમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો વાય નમો વાય નમો વજ્જાયણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ તો પંચન મુક્કારો તો પંચન મુક્કારો સર્વપા વત્પણાસણો સર્વપા વત્પણાસણો મંગલાનંત સર્વેતિ મંગલાનંત સર્વેતિ પરમમ હવૈ મંગલમ પરમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચિરામ જય સચિરામ જય સચિરામ જય સચિરામ જય સચિરામ જય સચિરામ સચિરામ જય સચિરામ જય સચિરામ જય સચિરામ इसमें बुद्धि बुद्धि मत चढ़ाओ कपड़े में जमे कर देने का और जो कुछ होता है करेक्ट ही होता है और कपड़ा भी और लेके आती थी और इसके हाथ में गिर गया टूट गया तो ये करेक्ट हुआ है इसमें तुम्हारी बुद्धि मत चलाओ मतलब जो होने वाला है वो होते ही रहेगा इसका मतलब जो होने वाला है वो होते ही रहेगा नहीं वो मैं बताता हूँ तो बात इसको इतना बोलना है कि भाई आपसे सेक्टर हो गए आपने क्रोध बहुत नहीं करने उसको दुख हो ऐसा नहीं करेगा का इसको सुख देगा देगा तो सुख ही देगा पीछे अपने क्या करने का आपसे आते चलो ऐसा मत करोगे इतना बोले का बोले वाला हो जाएगा ऐसा नहीं ऐसा ऐसा दिक्कत है नहीं क्या बोलता है लोग होने वाला हो जाएगा दूसरा क्या होने वाला बोल क्या बोलता है वही ना मतलब क्रोध नहीं होना होने वाला जगत वाले क्या बोलते हैं जगत के होने वाला होने वाला जो होने वाला है वही होता है अभी जो ऐसा होता नहीं होने वाला होता है तो ऐसा होता नहीं तो तो अपने वो जो गाड़ी चलाता है